तही अवसर सर रघु रुख पाये केवट पारहे नाव चलाये रघु कुल तिलक चले ये भाते देख देख कुलिस धरि छा दयापन किमि कहूँ सो जियत फिरे बोले राम सदेशो अस कही सचिव बचन रहि गय वो हानि रे सोच बस भयो उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानी और सोच के वश हो गए सुत बचन सुनत ही नर नाहो पर वो धरने उर दारो तलफत विषम मोह मन मापा माजा मन हो मिनत व्यापा सब करी के में जाए बखाने सुनि बिलाप दो खहु दुखुलाग धीरज हो कर धीरज भागा सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी वे तड़पने लगे उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया मानो मछली को माजा व्याप गया हो पह, पहली वर्षा का जल लग गया हो सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया भय वो कोलाहलो अवधयते सुनने परावर सोर बिहग मन पर से मन कुले सुकठोर राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो प्राण कंठ गत भय वो भुआला मन बेहे न जनो व्याकुल बालो कंठ गत भयउ भुवालो मन जनु व्याकुल व्यालो इन्द्रे सकल भय भारे जनु सरसरी जय बिनु भारि कौशल्या देख मलाना रवि कुल रवियथ ये जिय जाना उर धर धीर राम महतारे बोले बचन समय अनुसारी राजा के प्राण कंठ में आ गए मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं मानो बिना जल के तालाब में कमलों का मन बन मुरझा गया हो कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली नाथ मन करिय विचारो राम पयोधिय पारो करण धार तुम अवध चढ़े वो सकल प्रिय पथिक समाज। धीरज धरियत पाई पारो नाहित बोड़े सब परिवार जो जिय धारिय विनय प्रिय मोरे राम लखन सिय मिलहि बहोरी हे नाथ आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा हे प्रिय स्वामी यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे प्रिया बचन मृदु सुन तु निपो चित तलफत मेन मलेन जनु सिंचत से तल प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो